उलामाए अहल सुन्नत की जीती जागती तकरीरों का मरकज अल फारूक केसट हाउस ख्याली अड्डा गुजरावाला الحمد لله الذي شرفنا بعشرة عتق من النار والصلاة والسلام على حبيبه نبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم रब कायनात खालिक व मालिक जल्ला जलालहू का अजीम एहसान है कि उसने हमें माह रमदान मुबारक की बरकतों से बहरावर किया आज उम्मत मुस्लिमा का कारावां राहमतों को वसूल करता हुआ मगफरत के फूल पाता हुआ जहन्नम से आजादी के अशरे में पहुंच गया है मेरी दुआ है खल के कायनात जल्ला जलालू आज हम सबको भी जहन्नम से आजाद फरमा दे माह रमदान मुबारक का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और फिर बिलखसूस आखिरी अशरा तो खाल के कायनात जल्ला जला रूह की तरफ से अताओं का खसूसी अशरा है जुमातुल मुबारक का दिन है और जुमातुल मुबारक का इज्तम है अल्लाह तबारक बताला हर दिल को उसकी उम्मीदों का पैगाम दे और खाल के कायनात जल्ला जलालू तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमाए मोहतशम सामिन हजरात हमारी आज की गुफ्तगु का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर छ इससे कबल पांच किस्तें आपने मुख्तलिफ मौाक़े पर समाप्त की आज छठी किस्त है इंशाला तुबारक वाली कुरान मजीद बुरहान रशीद की चंद आयात पेश की जाएंगी और जो लोग उनका मफहूम बदलने की कोशिश करते हैं उनकी वारदात का जवाब दिया जाएगा आप हजरात बरह रास्त इस गुफ्तगु को सुनने वाले हैं आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अल्लाह के फजल से जो आप यहां सुनते हैं अमेरिका तक और पूरी दुनिया तक इन खिताबात को सुना जाता है और वहां से लोग मुझे फोन करके और वहां के मुनाजरीन अपने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में पूछते रहते हैं मफहूम कुरान बदलने की वारदात वाले जितने भी खिताबात हैं इसको मुख्तलिफ मदारस में दरसी निज़ामी के स्टूडेंट्स के लिए भी मुख्तलिफ जगह बार बार इनको सुनवाया गया अल्लाह तबारक व ताली इस सिलसिले को मजीद कबूलियत अदा फरमाया मोहतशम सामिल हजरात कुरान मजीद वो किताब हिदायत है कि खल के कायनात जल्ला जलालहू ने फरमाया अवलम यकफिन अल्लाह अनजल्ला अलई कल किताब युतला अलहिम इक्कीसवां पारा है फरमा लोग अब भी भूले हुए हैं और उन्हें दलील और बुरहान की मजीद तलाश है हालांकि हमने ए रसूल अक्रम सल्लल्लाहु आप पे कुरान नाजिल कर दिया जो इनके सामने पढ़ा जाता है कुरान मजीद के आ जाने के बाद मजीद कोई तड़प बाकी नहीं रहनी चाहिए और मजीद किसी आयत का और किसी निशानी का और किसी मोजे का तकाजा इस कौम की तरफ से नहीं होना चाहिए इन नफीजाली का ये जो हमने नाजिल किया है आप पर इसमें हिदायत भी है रहमत भी है और यह है किसके लिए ले कौमी युकमिनून जो ईमान वाले हैं उनके लिए हिदायत है और उनके लिए कुरान मजीद रहमत है मोहतशम शामिल हजरात रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की निगाह नबूवत तमाम हालात को अच्छी तरह देख रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तबरानी ने मौज में औस्त में इसको रिवायत किया है इमाम सयुती रहमत ने जामुल अहादीस में इसको रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर मा अतखवफ अला उम्मती रजुल यतनावल कुरआन मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज का सबसे ज्यादा खतरा है अक्सर मतखफ अला उम्मती मिमबादी मेरे दुनिया से चले जाने के बाद मुझे अपनी उम्मत के बारे में जिसका ज्यादा खतरा है रजुलुई यतनावल कुरान वो बंदा है कि जो मेरे कुरान को पढ़ लेगा वह याद आहू अला गैर मौद ही लेकिन इसका मतलब गलत निकालेगा इसका मफहूम बदलेगा अपनी ख्वाहिश को साबित करने के लिए आयात के मफहूम में तब्दीली लाएगा इस कुरान के अल्फाज में तब्दीली को नहीं ला सकता हल्के कायनात ने हमेशा के लिए इस कलाम को महफूज कर दिया है लेकिन हमेशा जितने भी हवस परस्त लोग हैं और बातिल फिरकों वाले हैं उन्होंने अपने मजहब अपने मसलक को तकवीयत देने के लिए कुरान मजीद ही की आड़ ली है इसके दर्श दिए हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुतले किया कि हाथ में कुरान का होना ये मेयार हक नहीं है मुझे जिस बंदे का सबसे ज्यादा खतरा है अपने बाद अपनी उम्मत के बारे में जो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है कौन है रजुलुई या तनावल कुरान व यादाऊ अला गैर मोदे ही जो कुरान पढ़ के उसका जो सही मतलब है वो बयान नहीं करेगा उसकी जो जगह है उस पर उसको नहीं रखेगा भी माना यह है यादाऊ अला गैर मोदे ही कि जो कुरान की जगह है वहां कुरान को नहीं रखेगा यानी जो कुरान मजीद की आयात का मफहूम है जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ है जो मतलब मैं बयान करता रहा हूं जो मैंने सिहाबा को पढ़ाया है जो सिहाबा ने तावीन तक पहुंचाए गए फिर और आगे ये चला जाएगा फरमाया वो शख्स इस मतलब से हट के अपना कोई मतलब बयान करेगा ये इतना खतरनाक है इतना खतरा मुझे उम्मत पर यहूदी का भी नहीं इतना खतरा मुझे ईसाई का भी नहीं इतना खतरा मुझे आग परस्त का भी नहीं और मजूसी का भी नहीं मुझे किसी हिंदू का भी इतना खतरा नहीं है जितना खतरा मुझे उस बंदे का है जो मेरे कुरान का आलिम बन जाएगा मेरे कुरान का दर्श देगा मेरा कुरान पढ़ेगा मेरा कुरान सुनाएगा लेकिन यादाहू अला गैर मौदे ही जो वो मतलब बयान करेगा ना उससे कुरान राजी होगा ना मेरा रब राजी होगा ना ही मैं उससे राजी होगा वो अगरचे कुरान पढ़ने वाला होगा मगर वो उम्मत के लिए खतरा है और सबसे बड़ा खतरा है मेरे सिहाबा इस खतरे से मेरी उम्मत को मुतले भरवा देना आज अगर किसी शादी हाल में कोई ईसाई दर्श देने आ जाए तो मुसलमान पहले ही होशियार हो जाएंगे ईसाइयों का कोर्स शुरू हो गया है कहीं कोई यहूदी आ जाए तो मुसलमान पहले ही उससे मुहतात हो जाएंगे कि यहूदी आ गया है लेकिन जब कोई कुरान वाला होगा तो अब इससे बचना मुश्किल है इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तफदील का लफ्ज बोला है अक्सर मा अतखब्बा पोला उम्मती मुझे अपनी उम्मत पर जिसका अक्सर खतरा है ज्यादा खतरा है वो वही इंसान है जो बिगड़ा हुआ आलम दीन है जो खहश का बंदा है जो कुरान मजीद के मतलब से बगावत करने वाला है और कुरान मजीद के मफहूम को बगड़ने बिगाड़ने वाला है फरमाया वो कुरान मजीद को गलत मफहूम में ले जाएगा ये शदीद खतरा है फरमाया ये जो कुरान पकड़ के इस तरफ चला है ये खतरा बन गया है और जिसने कुरान मजीद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के आईने में और सरकार की गुलामी के साहिबान के नीचे बैठ के पड़ा है फिर ये कुरान एक लफज पढ़ा जाएगा तो दिल में क्यारी के अंदर कई फूल खिल जाएंगे अगर शायद किसी पहले जमाने में इस हदीस का मतलब समझाना कोई शुरू करता तो उसे मुश्किल पेश आती लेकिन आज समझना कोई मुश्किल नहीं है आपके सामने है जो कुछ कुरान के दर्श की शक्ल में किया जा रहा है और जो कुछ इस इस की आड़ में लोगों को सिखाया जा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और ईसाई से इतना खतरा महसूस नहीं किया था जितना इस फरोश गंदम नुमा दुश्मन का है जो मुसलमानों की सफों में शामिल होकर और उसी कुरान को पढ़ के जो नगमा जिबरील है और हिरा की रोशनी है मगर मतलब ये निकालता है जिससे ना वाही खुश है और ना रसूल अक्रम सल्लल्लाहु का सीना जिस पे वाही का नजूल हुआ है वो खुश है और ना ही सिहाबा कराम रिदवान की तालीमत खुश है लिहाजा आज का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम ये पहचाने कि वो लोग कौन से हैं कहां कहां वो छुपे हुए हैं जो कुरान मजीद के मफहूम पर वारदात कर रहे हैं और कुरान मजीद के मफहूम को बिगाड़ के पेश कर रहे हैं ताकि उन लोगों के शर से बंदा खुद भी महफूज रहे और पूरी उम्मत को महफूज करने के लिए कमर बस्ता हो जाए मोहतम शामिल हजरा आज की गुफ्तगु हम इस आयत करीमा से शुरू करते हैं वमा अंता बिमुसम मन फिल कबूर ये हमारे नवाज भट्टी साहब मेरे पास इसका कर लाए सूरह फातिर की आयत है वमा अंता बेमुस्म मन फिल कबूर इसका तर्जमा लिख के नीचे दो लाइनें लिखी हुई थी आप ए रसूल अक्रम सल्लाह वसलम कब्रों वालों को नहीं सुना सकते इसके नीचे दो लाइनें यह लिखी हुई हैं कि जिस शख्स का यह अकीदा हो कि रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम और हजरत अली रदी अल्लाह तालान हो और हजरत अली हजवेरी रदी अल्लाह तालान हो रहमहुल्ला ताला और ऐसे बुजुर्ग जो कब्रों में लेटे हुए वो हमारी आवाज को सुनते हैं और जवाब दे सकते हैं वो बंदा सबसे बड़ा मुशरक और गुमराह है कुरान मजीद की ये आयत पेश करके इसके बाद बुत परस्तों मजूसियों और आतश परस्तों को नहीं छेड़ा गया कुरान मजीद की आयत पढ़ने के बाद मुसलमानों के बारे में शिरक का नहीं सबसे बड़े शिरक का तीर मारा गया और कहा गया कि ये जिन लोगों का अकीदा है अब ये जिन में हम ही नहीं आ रहे ये तो सिहाबा के राम से शुरू है जो रसूल अक्रम सल्लल्लाहु के रोजा मुकदस पे जाके हाजिरी देते थे और सरकार के सामने दरखास्तें पेश करते थे वो एक दो बातें नहीं दर्जनों और सैकड़ों हादीस हैं जिनमें बाकायदा से सिहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दी है फिर ताबीन है तबा ताबीन है पूरी उम्मत इस अकीदा निदा पे कायम रही है लिहाजा आज के इस जाली मुबाहिद ने अपने स्टिकर पे पूरी उम्मत को मुशरक करार देकर अपनी जाली तोहीद वाले चंद लोगों को मोमिन करार दिया ये वो खतरा था जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने उस वक्त महसूस कर लिया था बमा अंत मुस्म इम मन फिल कबूर आप उन्हें नहीं सुनाते जो कब्रों में हैं इससे मुराद क्या है हदीस से जिक्र करूं या मुफसरीन की आरा से वो तो बाद की बात है खुद आयत जो कुछ बयान करती है पहले वो देखो मां कबल में क्या है मां बाद में क्या है बमा अंत मुस्म इम मन फिल कबूर क्या कभी ऐसा हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि कहीं कब्रिस्तान में चले गए हो और आप किसी कब्र के पास जाके खड़े हो गए हो और आपने फरमाया कबर वाले कलमा पढ़ और अल्लाह ने आयत नाजल फरमा दी हो ए नबी आप कब्र वालों की नहीं सुना सकते क्या पस मंजर था किसकी कबर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे किसे जाके कह रहे थे किसे सुना रहे थे कि ये आयत नाजल हुई है सोचना पड़ेगा अगर मना किया है तो पहले काम हो रहा होगा सरकार किसकी कबर पे जाके सुना रहे थे कि खाल के कायनात ने ये आयत नाजिल फरमाई है मेरे भाइयों किसी की कबर पे नहीं गए अल्लाह तबारक बताला के महबूब चलती फिरती कब्रों वालों से गुफ्तगु करते थे मन फिल कबूर से मुराद उस वक्त का मुशरक था उस वक्त का काफिर था अबू जाल था उतबा खाल के कायनात जल्ला जलालू ने फरमाया मेरे महबूब इनके दिलों पर मोहरे लगी हुई हैं ये कब्रों जैसे हैं और मकबूरों जैसे हैं ये सुन के जवाब नहीं देंगे जैसे कब्र वाला कब्र में मुर्दा जो होगा उसके साथ बात करोगे वो तुम्हें क्या जवाब देगा वो क्या उस पर असर मुरतब होगा जैसे वहां तुम्हें जवाब की उम्मीद नहीं है ऐसे ही ये लोग जो है इस हद तक गए गुजरे हैं इनकी तरफ से कबूलियत नहीं हो सकती ये तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे मेरे महबूब घबराओ नहीं तुमने हक पूरा कर दिया ये काफिर मुर्दे बन चुके हैं इस वास्ते नहीं सुन रहे इस वास्ते इमाम सयूती रहमतुल्ला कहते हैं अल कुफार मनफिल कबूर से मुराद कौन है शब्बाहुम बिल मौता अल्लाह ने काफिरों को मुर्दों से तशबी दी काफिरों को चलते फिरते काफिरों को यहां किसी कबर में लेटे हुए की बात नहीं है चलते फिरते काफिर जो है अल्लाह ने उनकी जिंदगी को जिंदगी करार नहीं दिया पर मैं जो चले और बुद्ध के सामने झुके मैं तो उसको मुर्दा समझता हूं मैं उसको जिंदा नहीं समझता और जो महबूब तुम्हारा दर्श सुन के भी ईमान नहीं ला रहा और तुम्हारी तबलीग के बावजूद भी जो कलमा नहीं पड़ रहा ये चलता फिरता तो है मगर हकीकी तौर पर जिंदा नहीं ये मुर्दा है ऐसे मुर्दों को आप अब सुनाना छोड़ दे आपने हुज्जत पूरी कर दी है आपसे कोई मुआवजा नहीं होगा आपने हक अदा कर दिया है इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं लिहाजा इनके मामले को आप छोड़ दीजिए काफिर थे काफिर जिंदा काफिर उनको मनफिल कबूर कहा गया क्योंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उनके कानों को कान नहीं समझा उनकी आंखों को आंख नहीं समझा सुम बुकमुन अमजुन क्या ये बाकी बहरे थे क्या बाकी अंधे थे क्या बाकी गूंगे थे नहीं बोलने वालों को कुरान मजीद ने गूंगा कह दिया सुनने वालों को पहरा कह दिया और देखने वालों को अंधा कह दिया क्योंकि हक सुनते नहीं थे यानी सुन के कबूल नहीं करते थे हक देख के कबूल नहीं करते थे हक बोलते नहीं थे अल्लाह ने फरमा तुम्हारा बोलना मैं मुस्तरद करता हूं बोलना तो वो है जो मेरी तोहीद का बोलना हो सुनना तो वो है जो मेरे दीन का सुनना हो देखना तो वो है जो मेरे तोहीद के दलाल का मुशाह करना हो क्योंकि तुम ये नहीं कर रहे इस वास्ते मेरे नजदीक तुम ए मुशरको गूंगे भी हो बहरे भी हो अंधे भी हो मेरे नजदीक तुम्हारे इन आजा की कोई इफादियत नहीं है ये सूरत हाल थी हाल के कायलात जल्ला जलाल हूं बाजे करना चाहता था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि इनके अंदर कबूल करने की तोफीक नहीं रही ये कबूल नहीं करेंगे अदम कबूलियत की वजह से पर उनको मुर्दा कह दिया सुनाने की नफी थी ही नहीं क्योंकि मुर्दा आम मुर्दा भी कबर में सुनता है लेकिन हम जैसे उससे जवाब नहीं ले सकते ये नफी जवाब ना देने के लिहाज से मुर्दों के साथ तस्वीर देगी गई कि जैसे मुर्दे से बात की जाए तो उसकी तरफ से जवाब आना बड़ा मुश्किल होता है कि बाहर वो कबर से निकल आए और कबर से बाहर जवाब आ जाए ऐसे ये चलते फिरते ये मोबाइल कबरे है जो फिर रही है और ये मुर्दे हैं मुझे महबूब इनसे अब ज्यादा मगज कर पाओ आपने हक पूरा कर दिया है आपके अंदाजे तबलीग में कोई कमी नहीं है आपने कसर नहीं छोड़ी आपने हक वाजे कर दिया ये इनका अपना फतू मकतूल हैं जो जिंदा होने के बावजूद मुर्दा बने हुए हैं कुरान मजीद बुरहान रशीद का उसलूब देखिए जब हजरत आमिर हमजा रदी अल्लाह तला ने कलमा पढ़ लिया और हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह तला ने कलमा पढ़ लिया मुशरक कहने लगे हमजा में और अबू जहल में फर्क क्या है और उम्र फारूक में अबू अबू जहल में फर्क क्या है जब इस तरह की बातें चल रही थी कि ये अब कहते हैं कि इतने बड़े उम्र हो गए और इतने बड़े हमजा हो गए कल और आज में फर्क क्या है तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल की अवमन का नमैतन फाहजई ना हो व जाल ना रहू नूरा फरमा वो बंदा जो मुर्दा था और हमने उसको जिंदा कर दिया कमम माशा माशालहू फिर जुलमात क्या इसे तुम उस बंदे की तरह समझोगे जो आज भी अंधेरे में है फरमा उमर पहले मुर्दा था हमने अब जिंदा कर दिया है हमजा पहले मुर्दा थे हमने अब जिंदा कर दिए हैं अब्बास पहले मुर्दा थे हमने अब जिंदा कर दिए हैं रिद्वार लहली मजमईन फरमा अब इनको अबू जाल के साथ न मिलाओ इनको उत्बा शहबा के साथ न मिलाओ वो अब भी मुर्दे हैं और ये अब जिंदा हो चुके हैं सत्रवा पारा आवामन कान मईता जो पहले मुर्दा था तो आह यही ना हो हमने उसको जिंदा किया जाल ना रहू नूर यमशी भी जिसको हमने नूर दिया कि जिसके जुलूस में अब उमर चलता है जिस नूर के साथ चलता है तमाम माशारूफी जुलमात नहीं सभी हारे में नहा क्या ये उम्र उस अबू जाल की तरह है जो अब भी अंधेरों का कहती है हागिज ऐसा नहीं पर मां अबू जाल मुर्दा है उम्र ने हमको जिंदा हमने उम्र को जिंदा कर दिया है बाजी आए थे अब यहां जो हालत इस्लाम से पहले जिंदगी थी उसको मुर्दा का कुरान लफ्ज मैता बोला मैं मैता लफज बोला मुर्दा करके पुकारा और फरमाया अब चूंकि मेरे महबूब इस्लाम का कलमा पड़ गया है अब ये मुर्दा नहीं लोगों तुम कहते हो कोई फर्क ही नहीं जितना फर्क मुर्दा और जिंदा में है उतना उम्र फारूक और अबू अबू जाहल में है यह मुसलसल कुरान मजीद का उसलूब है कि काफरों की जिंदगी को माना ही नहीं गया जो जिंदगी हक मानती नहीं वो जिंदगी जिंदगी कैसी है ये मुर्दे हैं मन फिल कबूर इस वास्ते पूरी उम्मत में इतफाक रहा कि ये काफिरों की बात हो रही है कि खालिक कायरात फरमा रहा है महबूब आप अपनी तबलीग पर कहीं ये ना सोचे कि शायद मैंने हक नहीं पूरा किया आपने तो हक पूरा किया है ये मुर्दे हैं काफिर ये इस वास्ते कबूल नहीं कर रहे आपकी तबलीग में आला दर्जे का फसाहत बलागत का मवाद मौजूद होता है आपने हक अदा कर दिया है ये मुर्दे होने की वजह से काफिर चलते फिरते हुए तुम्हारी बात कबूल नहीं कर रहे हैं फिर देखिए खाल के कायराब जल्ला जलालहू ने इंसान जब मुर्दा था उस वक्त भी इसको सुनाया कौन तुम अम्बातन फाहजाकुम याद करो वो वक्त जब तुम मुर्दा थे अल्लाह ने तुमको जिंदा किया अब यहां से मुर्दा से मुराद विलादत से पहले की हालत है फाहया को उसने जिंदा किया अब इंसान जब आलम रू में था उसको मौत से ताबीर किया गया जब आलम वजूद में आ गया इसको जिंदा कहा गया और जब आलम रू में था और इसको मुर्दा मौता कह के पुकारा जा रहा था उस वक्त भी इसमें सुनने की सलाहियत मौजूद थी कैसी बड़े लोगों की तो बड़ी सलाहियतें हैं मेरे महबूब सलाम तो उस वक्त भी लौह महफूज के चलते हुए कलम की आवाज भी सुनते थे लेकिन मैं जिस सुनने की बात कर रहा हूं पुराने मजीद का सतारवा पारा है जब काबा बन गया अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अजिन फिन्ना से बिल हज सारी दुनिया के इंसानों को हज की दावत तुम दे दो सबको पैगाम पहुंचा दो हजरत इब्राहिम सलाम मक्का शरीफ में खड़े हैं उनकी आवाज क्या मत तक पैदा होने वाले इंसान की रूह ने सुनी है लब्बैक कहा है जो लब्बैक कह गया था लब्बैक कहता हुआ काबे में जा रहा है लिहाजा जब पैदा नहीं हुए थे तो सुनने की ताकत थी और पैदा होने के बाद जब मौत का जायका चखा तो फिर भी वो ताकत होनी चाहिए जो विलादत से पहले मौजूद थी और ये सुनाने वाला अमल मौजूद था वह वसिन फिन्नास बिल हज हजरत इब्राहिम सलाम हर एक के कान में जाके नहीं कह के आए एक जगह खड़े हुए हैं अल्लाह ने फरमा अलई कन्नदा व अलई अल बिलाल इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है बात पहुंचाना मेरा काम है लिहाजा उन्होंने बात की है और सब रूहों ने सुन ली है अगर सुनना बैद होता मुहाल होता तो ये हो ही नहीं सकता कहां कहां कितने करोड़ों अरबों लोगों ने सुन लिया है लिहाजा यहां जिस सुनने की नफी की जा रही है वो है कबूलियत वाला सुनना सुन के फिर उसका जवाब देना फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिलों पे मोरें लग गई हैं औरों पे मेहनत कर लो इनको छोड़ दो इस वास्ते कि ये ऐसे हैं जैसे कब्रों में मुर्दे पड़े होते हैं ये मुर्दे हैं शब बहाल हम बिल मौता और याद रखना तशबी जवाब ना देने की बुनियाद पर है सुनाने की नफी मकसूद नहीं है पर मैं जैसे कोई ऐसा आदमी होता है कि वो सुनी ना रहा हो तो जवाब नहीं आता ये इस तरह के हो गए हैं ये मस्तोरे हैं सुनते भी हैं जवाब नहीं देते महबूब आप इनके बारे में परेशान ना हो अब इस आयत का माकबल पढ़ो वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलजुलमात वल नूर वलजिल वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अम्बात इन अल्लाह युस्म मंगशा वमा अंत बिमुस्म इम मनफिल कबूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायस्तविल आमा वल बसीर कभी भी अंधा और बीना बराबर नहीं होते मा यस्तविल आमा वल बसीर कभी भी नाबीना और बीना आपस में बराबर नहीं होते वलल जुलुमात वल नूर कभी भी रोशनी और अंधेरा आपस में बराबर नहीं होते वलल दिल वल हरूर और कभी भी धूप और साया आपस में बराबर नहीं होते वमा यस्तविल अहजा वलल अम्बात कभी भी मुर्दा और जिंदा आपस में बराबर नहीं होते महबूब तुम्हें जो इनसे उम्मीद है कि इनसे भी कोई उमर निकले इनसे भी कोई अबू बकर निकले नहीं नहीं उमर नूर था अबू जाल अंधेरा है ये जुल्मत है आप सुनाते हैं नूर वालों को इसकी उम्मीद ना रखो इस पे पक्के ताले कुपर के लगे हुए हैं अगर मुर्दों की बात होती तो पहले इतनी वजाहतें जरूरत क्या थी मुर्दा तो हर एक को बदी पता है कबर पर जाके बोलता है तो उसको जवाब नहीं मिलता जवाब ना लाने की बात को बयान करना इतनी मिसालों से इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ये माह कबल पूरा जो है वाजे कर दिया अल्लाह ने कि काफिर काफिर को तुम इस तरह समझो जितना फर्क कुफर में कुफर में और ईमान में फर्क क्या है ये देख लो जिस तरह के नाबीना और बीना में फर्क होता है जिस तरह रोशनी और अंधेरे में फर्क होता है जिस तरह धूप और साय में फर्क होता है मेरे महबूब इतना ही फर्क है ये मां अंत मुस्लिम मनफिल कबूर अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है आप इनको नहीं सुनाएंगे मतलब क्या था अल्लाह ईमान पैदा करता है आप उसको बांटते हैं मेरे नबी मैंने अबू जाल के हिस्से का पैदा ही नहीं किया आप फिर उसको बांटेंगे किस तरह ये हल के कायनात नफी कर रहा था खत्म अल्लाह वाला क्रूडहिम वाली बात बता रहा था सवा उलिम आंसरता हम अमलम तंज हम लायो में नून डराए या ना डराए ये ईमान नहीं लाएंगे इसी मफहूम को यहां बयान कर दिया गया कि खालके के कायनात ईमान बनाता है आप उसे तकसीम फरमाते हो लेकिन जिसके हिस्से का अल्लाह ने पैदा ही ना किया हो वो आप तकसीम किस तरह फरमाएंगे महबूब इनके बारे में ना उम्मीद हो जाओ इनके हिस्से का मैंने पैदा ही नहीं फरमाया मां बाप देखो कल के कायरा फरमाता इन अंतल्ला नजीर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि आपका काम तो सिर्फ डराना अब आयत के साथ मिलाओ इसको बमा अंत मुस्मिम मन फिल कबूर इन अंत इला नजीर हमने आपको तो डराने के लिए भेजा आपने काम पूरा कर दिया आपने डराया ये नहीं डरे तो इनकी गौर गर्दन इन अंत इला नजीर हमने आपको नजीर बनाया है अब इस आयत के बाद कि आप इन मुर्दों को नहीं सुनाते बाद में यह नहीं कहा कि आप में सुनाने की ताकत नहीं है आप कब्रों वालों से कैसे खिताब करेंगे पर मैं नहीं नहीं इन अंत इल्ला नजीर हमने आपको डर सुनाने वाला बनाया है आपने इनको डराया है आपने तबलीग का फर्ज पूरा कर दिया है बाद में लफ्ज नजीर का जिक्र करना इस बात की दलील है जो बंदा मर जाता है वो ईमान का मुकलफ ही नहीं रहता उसका ईमान कबर का मोतबार नहीं होता लिहाजा नजीर ने बता दिया ये कबर से पहले वाली हालत की बात है इन अंत इन अंत नजीर सिर्फ इस लफज को देख लिया जाए फिर भी इसको कबरों पर कोई नहीं ले जाएगा इस आयत को अल्लाह तला फरमा रहा है हमने आपको सिर्फ नजीर बनाया है ईमान का खालिक नहीं बनाया ये नहीं मानते ना माने आपकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं है और ये आयते महबूब सलाम की हौसला अफजाई के लिए हैं खाल के कायनात ने यह समझा कि जब ये ईमान नहीं ला रहे मेरे नबी मुसलसल कोशिश करते हैं और एहसास यह है कि शायद मेरे कहीं समझाने में कोई कमी रह गई हो अल्लाह ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया मेरे महबूब तुमने समझाने का हक अदा कर दिया है आपने तबलीग का आला फरीला सर अंजाम दे दिया है कोई कमी बाकी नहीं रह गई मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूं ये ना मानने वाले मुर्दे हैं अगर मुर्दे ना होते फिर समझ जाते चलते फिरते मुर्दे हैं इस वास्ते महबूब तुमने तबलीग का काम पूरा फरमा दिया है आयत का अपना मतलब पूछो इनसे कि सरकार को जो रोका गया तो किस की कबर पे दावत देने गए थे किस इंसान की कबर पे जाके खड़े होके कह रहे थे आमिन बिल्ला ए कबर वाले अल्लाह को मान कि अल्लाह ने यह आयत नाजल कर दी हो कि जिंदों को पढ़ाओ कबर वाले को छोड़ दो रब काबा की कसम है एक जईफ से जईफ कौल भी नहीं मिलेगा और फिर माकबल को देख लो अल्लाह ने जो हाथ दे के मसला बयान किया है और फिर इन अंत इला नजीर को देख लो और फिर खाल के कायनात ने मजीद हौसला अफजाई की इन अंत इला नजीर इन्ना अरसलना कबिल हक की बशीर व नजीरा व इन मिन उम्मत इल्ला खलाफिया नजीर मेरे महबूब हमने आपको बशीर भी बनाया है नजीर भी बनाया है और कोई घबराने की बात नहीं आपसे पहले भी नजीर आए और आपसे पहले भी मुजरिम नजीर के मुनकर बने रहे हैं और उन रसूलों को मैंने कालिल करार दिया जैसे पहले भी मुजरिम और मूजी लोग नजीर के आने के बावजूद भी काफिर रहे थे महबूब अगर ये चंद काफिर रह गए तो कोई बात नहीं हमने तुम्हें आला दर्जे की रिसालत अता फरमाई है अब इसका अगला जो लफज आयत का वो सौ फीसद ऐलान कर रहा है कि मन फिल कबूर वाली बात मुर्दों की नहीं जिंदों की है कैसे वह वही युकू का अगर ये मन फिल कबूर तुम्हें झुटलाते हैं फकत कसदबल लजीना अगर ये तुम्हें झुटलाते हैं तो महबूब पहले भी पैगंबरों को लोग झुटलाते ही आए हैं अब ई यू युकू का फाइल पूछो इनसे कौन है अगर ये जिनका पीछे जिक्र हो गया है मनफिल कबूर वाले अगर ये तुझे नहीं मानते अगर ये तुझे झुटलाते हैं एक होता है झूठ बोलना वो होता है काजिब एक होता है झुटलाने वाला यानी किसी को झूठा कहने वाला वो होता है मुकजब फरमा ई युकजबू का अगर ये काफिर तुम्हें जुटला रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं जो तुम्हें अपना रसूल कहता हूं देबू का इसका फाइल आयत में पहले मौजूद है मन फिल कबूर मा अंता भी मुस्लिम मन फिल कबूर अब मुसलसल आगे आयत जा रही है और तो किसी का जिक्र ही नहीं दरम्यान में सिर्फ महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है आप नजीर हैं आप बशीर हैं अब आगे अगर ये जुटलाए कौन ये वही जिनका पीछे जिक्र मौजूद है जिनको मन फिल कबूर कहा उनको कुरान ने झुटलाने वाला भी कहा अब कुन जेन से कुन जेन आदमी भी इस फैसले पे पहुंच सकता है कि कबर वाला बाहर निकल के नहीं जुटला सकता ये जुटलाने कुरान ने कहा हम तुम्हें जिंदा नहीं कहेंगे हम तुम्हें मुर्दा कहेंगे तुम हमें जुटलाओ और हम तुम्हें जिंदा कहें हर किस नहीं होगा ए मुर्दो तुम मुर्दे हो और तुमने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को जुटलाया है अब युकजबू का फाइल जो है वो बात को वाजे कर रहा है कि मात मन फिल कबूर से मुराद कब्रों वाले नहीं जमीन के ऊपर चलते फिरते काफिर मुर्दे हैं इस आयत की वजाहत में जितनी बातें मैंने आयत से की हैं इनमें से किसी एक का जवाब दुनिया के किसी कोने से मुझे कोई लाकर दे दे मैं उसकी बात को मान जाऊंगा रब काबा की कसम है कितनी ज्यादती है आज से जो बात कहीं की थी उसे दाता साहब पे ले आए जो बात किसी और की थी अबू जाल की थी उसे रसूल पाक सल्लम के बारे में लिखा गया और फिर कहा गया वो सबसे बड़ा मुशरक है जो ये कहे कि माजल्ला सरकार सुनते हैं ये है खाना साज शरीयत ये है इस्लाम से बगावत ये है इस्लाम से सरकशी ये है यहूदियों से खतरनाक खतरा कुरान पढ़ा जा रहा है और काम वो किया जा रहा है जो आज यहूदी भी नहीं कर सकते कौन यहूदी मुसलमानों कितने मजमे में यह कहेगा ये आयत पढ़ के कि कोई रसूल पास वसल्लम को सुना नहीं सकता आपको मत पुकारो कोई दाता साहब को सुना नहीं सकता कोई हजरत अली रदी अल्लाह तला को कबर में सुना नहीं सकता रब काबा की कसम है कोई यहूदी आपको नहीं मिलेगा कोई ईसाई आपको नहीं मिलेगा अगर मिलेंगे तो ऐसे दतूरे मिलेंगे जिन्होंने दीन के जुब्बे पहन रखे हैं कुरान हाथ में पकड़ा हुआ है और सरकार ने खतरा पहले बचा बता दिया था अब देखो एक फीसद भी जिस मतलब की गुंजाइश नहीं थी उसको सौ फीसद बयान कर रहे हैं और कितना जुरत है कि फिर मानने वालों को जो सही कुरान मानते हैं उन्हें अब जान से बड़ा मुशरक कहा जा रहा है अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमाए कुरान मजीद बुरहान रशीद बोल रहा है कि यहां पर बात मुशरकों काफिरों की है कबर में लेटे हुए अल्लाह के बलियों की नहीं है एक फीसद भी उसका इस्तेमाल नहीं मैंने ये आपके सामने आयत का मा कबल खुद आयत और माबाद से बयान किया है ये यूं समझो जैसे अजहर में शम्स होता है फनी और कानूनी लिहाज से इनमें से किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता इंशाला इसके बाद अगर हम सिहाबा कराम रहमान का रवैया देखते इमदादी ना साथ मैंने आयात पढ़ दी सुमुम बुकमुन उम जुनबारी अवामन काना मई मैतन वो भी सामने रखो वाजदिन फिन्नास बिल हज वो भी सामने रखो और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा सामने रखो सही मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है जिस वक्त बदर के मकाम पर काफिर मुर्दों को उठाया गया और उन्हें बदर के एक गड़े में इकट्ठा कर दिया गया बाद हो मलाबाद बाद नीचे हैं बाद ऊपर पड़े हुए हैं इन तलकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तन तहा सरकार चले और चलते हुए उस कुएं के किनारे पर जाके खड़े हो गए सहाबा की जमात साथ है रसूल अक्रम सल्लाम ने वहां जाके क्या किया सही मुस्लिम शरीफ के अलावा बीसियों किताबों में यह हदीस मौजूद है संदे सही से रसूल पाक सल्लाम खड़े हो गए कहते या फुलान उबनो फुलानिन या फुलान उबनो फुलानिन या फुलान उबनो फुलानिन हल वजत्तम मा वादा हुआ रसूल हक्का फैनी वजत्तो मा वादानी रब्बी हक्का ए अबू जाल ए उतबा ए शैबा बताओ मुझे मुझसे मेरे रब का जो वादा था मैंने तो सच्चा पाया है तुमसे जो वादा था तुम बताओ कैसा हुआ या फुलान या फुलान नाम लेके या के साथ जब सरकार मुसलसल ये गुफ्तगु फरमा रहे थे चाबा साथ है अब क्या हुआ सरकार का सुनना तो जिंदा काफिर क्या मुर्दा तक भी जाता है जवाब नहीं आता जिंदा कबूल नहीं करता मुर्दा उठने के काबिल नहीं है सुना तो मुर्दे को तो भी रहे हैं हजरत उमर रदी अल्लाह तला ने हमारे लिए वजाहत करवा ली कई तो फातुकल्लेम अजसादन ला अरवाह लहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इन जिस्मों से आप गुफ्तगु कैसे फरमा रहे हो इनमें तो कोई रूह नहीं है हमने खुद इनको काटा हमने इनके सर उतारे हमने इनका खून बहाया हमने तलवारें इनमें ठंडी की हमने अपने पुराने गुस्से इन पर निकाले हमने घर छोड़ के आए थे हमारे हाथों से खुदा ने इनको मरवाया इनकी रूहें निकल गई है कई फतुकल्ले मुजसादन लार वहा जिन जिस्मों में जान ही नहीं है इनसे बात करने का फायदा क्या है सरकार हिकमत बता दीजिए इनकार नहीं था कि जब सरकार बोल रहे हैं तो जरूर बात है वजाहत फरमा दीजिए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वैसे भी बता देते तो सौ फीसद यकीन था हमें लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कसम उठा के कहा बल्लजी नफसी बेयादेही मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा में मेरी जान है या उमरो मानता भी असमा ए उमर जो बातें मैं इनसे कर रहा हूं तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन रहे ये ज्यादा सुन रहे हैं ये सही मुस्लिम है मजनू लैला की दास्तान नहीं है ये कोई अफसाना नहीं है ये कोई किस्सा कहानी नहीं है ये उस जुबान की बात है जब तक वह यूं यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक ये जुबान नहीं खुलती सरकार ने कसम उठा के कह दिया उमर ये मेरी बातें सुन रहे हैं सिर्फ जवाब देने की ताकत इनमें नहीं है लेकिन मैं सुनाना तो चाहता हूं कल तक मेरे साथ अकड़ के चलते थे मुझे मक्का शरीफ में मजबूर कर दिया था मैं हिजरत करके आया तो पीछे मारने को पहुंचे मैं इनको बताना तो चाहता हूं रखो मजा मेरे शेरों की तलवारों का मैं इनको ये साथ दिलवाना चाहता हूं उमर अगरचे जवाब नहीं देते मगर मेरी बातें ठीक ठाक सुन रहे हैं बड़े बड़े बुजुर्गों के मामले तो बड़ी दूर की बात है हदीस शरीफ से तो यह भी पता चला काफिर को भी सुनाया गया काफिर ने सुना सरकार ने सुनाया और फिर मोमिन आम जो है वो भी सुनता सही बुखारी शरीफ में है फरमा जिस वक्त बंदे को दफन करके उसके दोस्त वापस आते हैं तो क्या होता है इन नहू लशमाओ कर न्याल फरमा वो कबर का मुर्दा अपने भाई जो जिंदा उसके वापस जा रहे हैं उनके कदमों की आहट भी सुनता है करा न्याल कदम रख के जो उठाया जाता है तो आवाज पैदा होती है उसको सुनता है और बयान कैसे किया इन्ना भी ताकीद के लिए लांबी ताकीद के लिए इन नयस्माओ वो कबर वाला जरूर सुनता है करा न्याल हिम इन जिंदों के कदमों की आहट को अगर मामूली सी आवाज सुन सकता है तो या वाले नारे क्यों नहीं सुन सकता अगर आम बंदा सुन सकता है तो हजरत अली हजवेरी दाता गंजे बख्श क्यों नहीं सुन सकते ये मेरे महबूब के वाजे फैसले हैं सही बुखारी शरीफ है फरमाया आम बंदा भी अपने भाइयों के कदमों की आहट भी सुन लेता है शरीफ में है रसूल अक्रम सल्लल्लाहु ने आपके सहाबी अमर बेनास रदी अल्लाह तला जो फाते मिस्र है उनके विशाल का वक़्त करीब था आपने बेटों से और दोस्तों से जो वसीयत की थी वो तवील वसीयत है उसमें यह कहा था इदा दफन तुमूनी सुन्न अली तुरा बशन्ना जब मुझे दफन करना मट्टी आहिस्ता डालना सुम अफीम होला कबरी फिर मेरी कबर के गिर दायरा बना के खड़े हो जाना हत्ता अस्त नेसा बेकुम ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लग जाए मैं किसी मलंग की बात नहीं कर रहा मैं अशरा मुबशरा के सहाबी की बात कर रहा हूं वो तोहीद परस्त जिनके जोर तोहीद ने मिसर को तोहीद का मरकज बनाया उनका अकीदा क्या है तुम कबर से बाहर हो गए मैं अंदर हूंगा अस्ता बेकुम मैं मानूस हो जाऊंगा वह आलामा माजा उराजो भी रसूला भी तुम पढ़ते जाओगे मैं सुनता जाऊंगा जवाब देने आसान हो जाएंगे उनके लिए मुश्किल थी नहीं लेकिन अकीदा वाजे कर दिया कि बाहर वाला सुना जा सकता है और सुन के उसको समझा जा सकता है तो ये इख्तिसार से इस आयत पर जो वारदात की जा रही है इसका मैंने आपके सामने मतलब बयान किया इसमें बुखारी और मुस्लिम की हदीस और खुद आयात कुरान मजीद आपके सामने पेश की है ये आपके पास मेरा कर्ज है आप जब तक कम अज कम सौ आदमी तक इसको पहुंचा न दे ये कर्ज नहीं उतरेगा आप पर लाजिम हो गया है आपने इसकी जकत निकालनी है और पूरे शरे सदर के साथ सौ फीसद यकीन से साथ आपने इसको बयान करना है जहां भी कोई मुनकर मिल जाए और इनकार करे कोई जवाब दे उसे मेरे पास ले आना अल्लाह के फजल से मैं उसके सीने को ठंडा करने की कोशिश करूंगा याद रखना इसमें किसी तरह भी ना अपने इल्म का इजहार मकसूद है अल्लाह ऐसी बात से बचाए लेकिन दिल जलता है कुरान हिरा की रोशनी है और लोगों ने उसको गुमराही का जरिया बनाया हुआ है इतने इतने मुकदस लोगों पर ये हमले किए जा रहे हैं और उनके काफिरों अबू जाल की जगह उनके नाम रख के खाली जगह पुर की जा रही है इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है इस वास्ते इस जुल्म को महसूस कीजिए और इसको खत्म करने के लिए अपने हिस्से का किरदार जरूर अदा कीजिए ग्यारहवें पारे में है यह दूसरी वारदात वही यम शस्कल्लाह बिदुर्रिन फला का शिफलाहू अगर तुझे कोई मुसीबत आ जाए तो उसको सिवाय खुदा के कोई नहीं टाल सकता यह अल्लाह ने अकीदा बताया अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो अल्लाह के सिवा उसको कोई नहीं टाल सकेगा आलहक का हमेशा यह अकीदा रहा कि अल्लाह के इजन के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता मुसीबत दूर होना तो बड़ी दूर की बात है अल्लाह के इजन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता मुसीबत उसके बगैर कैसे कोई टालेगा हां यह है अल्लाह अपनों से अपनों की मुसीबतें टलवा देता है उसके इजन के बगैर कुछ भी नहीं होता और वो चाहे तो उसके बंदे बंदे तो बंदे रहे बंदों के कपड़े भी मुसीबतें टाल देते हैं कुरान मजीद में है जिस वक्त हजरत याकूब सलाम की तरफ हजरत यूसुफ सलाम ने कमीज भेजी थी इज हबू बे कमीसी हाजा फालकूह अला वज अबी ते बसीरा ये मेरी कमीज ले जाओ मेरे भाइयों मेरे अब्बा जी जो नाबीना हो गए हैं तो मेरी कमीज जाके उनके चेहरे पे डालना जू ही डालोगे आंखें खुल जाएंगी कुरान है तेरवा पारा है रब का कुरान है अल्लाह के नबी का अमल है और उसको आयत में हिस्सा बना दिया गया है फरमा मेरे भाइयों घबराओ नहीं इस हबू बेकमी सी हाजा मैं खुद अगरचे यहां हूं मेरी कमीज ही साथ ले जाओ मेरी कमीज ले जाओ ये तवाहम परस्ती नहीं ये तो ही परस्ती है ये रंगों का अकीदा नहीं ये नबियों का अकीदा है इस हबू बे बेकमीज ही हाजा मेरी ये कमीज ले जाओ पालकूह अला बज अभी यक्त बसीरा जाके अब्बा जी के चेहरे पे लगाना आंखें खुल जाएंगी अब ये कमीज यहूदा जो भाई थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो ले के आगे बढ़े क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब फराड हुआ था तो खून आलूद कमीज ये अब्बा जी के पास लेके गए थे आज चाहते हैं कि गम का वक्त खत्म हुआ खुशी की घड़ियां आई है तो मैं ही खुशी लेके आ जाऊं फलम्मा अनजाल बशीर कुरान कहता है जब वो बशीर पहुंचा नाम तो और था मगर बशारत देने वाला है अलकाह वाला वजही फरतद बसीरा वो कमीज जाके अब्बा जी के चेहरे पे रखी है तो क्या हुआ आंखें फौरन रोशन हो गई है अब फैसला कौन घड़ी है क्या कमीज खुदा है इला है उसमें कोई इला ने हलूल कर रखा है नहीं नहीं कमीज है मखलूक है उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं अगर एक निस्बत की मनफी कर दी जाए उसका कोई मरतबा नहीं वो निस्बत क्या है अल्लाह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से लगी है अगर अगरचे धागे हैं मगर जान वालों ने जान डाल दी है अब क्या हो गया है वो कमीज बेजान जब हजरत याकूब सलाम की आंखों पे रखी गई है आंखें फौरन रोशन हो गई है मर्ज दूर हुआ नाबीना होना कितनी मुसीबत सी और मुसीबत टल गई अब उधर वो आयत है इधर ये आयत है और ये आयात है अब कुरान मजीद तो कुरान है ही इस वास्ते इसमें कोई तारुज नहीं है अपोजिशन नहीं है आपस में बातें मुतजाद नहीं है कुरान सच कहता है ईम सचकल्लाश पलाहू अगर किसी पर मुसीबत आ जाए कोई वक्त उस मुसीबत को टाल नहीं सकता अल्लाह के इजन से अल्लाह वालों की कमीज भी टाल लेती है इसके सिवा कोई मतलब नहीं है किसी के पास कोई मतलब नहीं है कमीज इला नहीं है वो अल्लाह के नबी की कमीज है उसमें ये फैज कैसे आया किसी बुत से नहीं ताहूत से नहीं अल्लाह की रहमत से आया है अगर वैसे आता होता तो कमीसें और भी बड़ी थी अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं इसमें फिर नबी की क्या हैसियत है जब अल्लाह की तरफ से आया है तो मैंने कहा कमीसें तो और भी लाखों हैं और वो लगा ली जाती नबी का मकाम यह है कि इस कमीज से नूरे बारी जाहिर हुआ इस कमीज से रहमत बरसी है ये आल सुन्नत व जमात का कीदा है कपड़े और भी हैं लेकिन ये चूंकि पैगंबर का तबरुक है उनके पैकर से लगा है और ये दूसरी जगह तबर्रुक की दूसरी हैसियत में जाना चाहता है अगरचे वो खुद पैगंबर है इस बात को जाहिर कर दिया गया कि यहां जो मुश्किल दूर हुई है किसी बुत ने नहीं की यहां भी अल्लाह के फजल ने की है लिहाजा जालिमो बाज आ जाओ अल्लाह वालों को बुत ना कहो ये तो अल्लाह की रहमत के नुमाइंदे हैं फायदा देना चाहे तो फायदा देते हैं अल्लाह के इजन किताबें खुद कुछ भी नहीं करते उसकी रहमतों के मजर बनते हैं मदद करते हैं और नुकसान कराना चाहे तो कर लेते हैं बार बार ऐसे पढ़ते हैं लामिल लाकुम दर्रा नफा वाला दर्रा इसकी वजह पिछले खुतबे में हो चुकी है मैं नफा नहीं देता मैं नुकसान नहीं देता इसका मतलब वाजे हो रहा है कि एक है अपनी हैसियत एक है अल्लाह के साथ महबूबियत की हैसियत अपने तौर पर हम कुछ नहीं करते अल्लाह सब कुछ करवाता है हमसे बमा रमईता इज रमईता यूं करवाता महबूब मारते तुम थे लेकिन मारता मैं ही था हाथ तुम्हारे थे मार मेरी थी हाथ तुम्हारे थे फायदा मेरा था ये हैसियत इन लोगों की है हम जैसों को ऐसी हैसियत नहीं मिलती कितना ऊंचा मरतबा है अब फायदा देना चाहा तो कमीज ने दे दिया कुरान ने जहर किया और नुकसान कैसा है इतना बड़ा नुकसान है कि पैगंबर की जुबान ने हरकत की दायमी नुकसान को किसी के गले लगा दिया जब हजरत मूसा मूसम तूर से वापस आए सोलवा पारा है कौम बछड़े के गिरद थी पूछा क्या हो गया तुमको सामरी ने घर लिया था सामरी को तलब किया तुमने ऐसा क्यों किया कहने लगा जबरील इस्लाम की घोड़ी के कदमों की खाक में मैंने देखी थी शिफा मैंने वो डाली है और बछड़ा बन गया है यह एक अलहदा अकीदा है कि रसूल पाक वसल्लम के खादम के घोड़ी की कदम का जो गुबार है उससे भी हयात निकलती है कुरान मजीद ने वाजे किया यहां जिस वक्त उसने बछड़ा बनाया और लोगों को कहा यह है असल में खुदा मूसा तो भूल के चले गए हजरत मूसा को गुस्सा आ गया एक बात मुंह से निकल गई वो तीर थी फर्ज हब इन नलक फिल हयात अंतकूल लाबिसास चल चला जा सारी जिंदगी तू मुंह से बोलता रहेगा लाबिसास लोगों मेरे करीब ना आना लोगों मेरे करीब ना आना पर हमने यह सजा तुम पे लाजम कर दी है अगर तुम्हारा किसी को हाथ लग जाएगा उसको भी बुखार हो जाएगा तुम्हें भी हो जाएगा और अगर किसी का तुम्हें हाथ लगा उसको भी बुखार हो जाएगा तुम्हें भी बुखार हो जाएगा ऐ सामरी आखरत का आजाद तो खुदा दे गई मैंने तुझे कह दिया है मेरी जुबान से यह जुमला निकल गया है सारी जिंदगी तनहा मर जाएगा बीवी तेरे करीब नहीं जाएगी बेटा तेरे करीब नहीं जाएगा भाई तेरे करीब नहीं जाएगा दोस्त तेरे करीब नहीं जाएगा तू खुद लोगों से बचेगा तू के खुद तुम्हें बुखार का खतरा होगा जब भी किसी से तेरा बदल लगेगा तुझे भी बुखार होगा उसे भी बुखार होगा ये पूरी जिंदगी मैंने तुझे तनहा कर दिया है और पूरी जिंदगी के लिए इस अजाब में मुबतला कर दिया है ये थोड़ा नुकसान था ऐसी दुआएं नुकसान की है और मैं चला जा इन नला का फिलहाल तकूला ला मिसास मुझे बोलने की जरूरत नहीं खुद तू बोलेगा लामिसास मेरे करीब ना आना पीछे हट जाओ लोगों मेरे करीब ना हो मुझे मत छुओ क्योंकि लोग छूएंगे तुझे बुखार हो जाएगा खुद तुम पहले ही लोगों से कहोगे कि दूर रहना अब पूरी जिंदगी के लिए उनको हजरत मूसलाम ने जो नुकसान पहुंचाया है तो रोजाना कोई नहीं दुआ की एक मरतबा जुमला बोला था हमेशा के लिए अजाब में मुबतला कर दिया है जबान जबान का फर्क होता है ये लोग कितने गुमराह हो चुके हैं कुरान मजीद की अजमत से अब ये कुरान है कि अल्लाह के करीम ने नुकसान कितना दे दिया लेकिन ये तो हक है आया अल्लाह की इजन से है लेकिन बोल तो यही रहे थे इनका अकीदा इनका जुमला ये आल सुन्नत का अकीदा है रब काबा की कसम है कोई आल सुन्नत जाहल से जाहल इंसान भी ये अकीदा नहीं रखता कि किसी वली को अल्लाह के मुकाबले में कोई पावर हासिल है या अल्लाह ना चाहता हो तो वली बजोरे बाजू करवा लेगा नहीं ये सारे अल्लाह की इज्जत वाले बंदे हैं और इनको अल्लाह ने इतना प्यार रखा हुआ है ये कसम उठा दे अल्लाह पूरी फरमा देता है में हदीस शरीफ है अब देखो नफा भी दे दिया नुकसान भी दे दिया नफा भी जिक्र है पुराने मजीद में नुकसान भी जिक्र है पुराने मजीद में लिहाजा जिन की नफी है वो नफी बुतों की है ना अपने तौर पर करते हैं और ना अताई तौर पर करते हैं वहां किसी तरह भी नहीं आ सकता और ये वो जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म के ताबे रह के इतना ऊंचा मरतबा पा चुकी हैं अल्लाह ने इनको नफा देने का जामिन बना दिया है मोहतशम सामिन हजरात तवज्जो करना ये दो तीन महीने कबल लाहौर में दारोगा वाला से दूसरी साइड पर जल्लो मोड़ तक एक बहुत बड़ा इश्तिहार दीवारों पर लगा हुआ था और उसके दरमियान में मोटा सा लिखा हुआ था बे इख्तियार है बहुत मोटा कि आदमी को गाड़ी पे चलते हुए वाजे नजर आता था मैंने देखा तो इतनी मुझे इस बारे में तजस्स हुआ कि ये बे इख्तियार है इश्तिहार इस टाइप का जैसे फिल्मों के होते हैं बहुत बड़ा है और दरमियान में बे इख्तियार है इतना मोटा है बाकी कुछ पढ़ा नहीं जाता ना तो किसी जलसे का कोई कॉन्फ्रेंस का जिक्र है और ना ही कुछ और है इतना मोटा बेख्तियार है ये क्या चीज है अभी मैंने कहीं उतर के पढ़ा नहीं था कि वो जल्लो मोड़ की तरफ से जो हमारे तालिब इलम पढ़ने आते हैं वो इश्तेहार किसी दीवार से उखाड़ के ले आए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सरहद से पार कोई मुशरक भी ऐसा इश्तेहार नहीं छापा होगा किसी ने जो यहां के किसी कमीने मुवाहिद ने छापा है बेख्तियार मोटा लिखा हुआ है और साइड पे लिखा है क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सिहाबा किराम औलिया किराम और सारी मखलूक बेश्तार है इतना मोटा बेश्तार दरमियान में है और फिर आयात लिखी गई है वारदात वाली यस अलहू मन फिस समावात वल्लर्थ अल्लाह से सवाल करता है जो भी आसमानों में है जो भी जमीन में है सूर्य रहमान की आयत ये आयत और यास अंतमुल फोकारा ए लोगो तुम अल्लाह के फकीर हो ये दो आयत लिखी गई है और इसके बाद अपनी तरफ से तबसरा जो बदला हुआ मफहूम है उसका पूरा इश्तिहार आयत के तर्जमे को मोटा लिखना जरूरी नहीं समझा गया अपनी खबासत को मोटा लिखना जरूरी समझा गया है ये है वो खालों का पैसा जो कुर्बानी के मौका पर आप जिहादियों को इस तरह के देते हैं सरकार को बेख्तियार साबित करने के लिए माजल्ला दीवारें स्या कर दी है बड़े बड़े इश्तिहार हैं और मैं पूरे वसूख से कहता हूं आज तक ऐसा पोस्टर किसी यहूदी ने नहीं छाया किया होगा किसी ईसाई ने नहीं छाया किया होगा और बॉर्डर के पार किसी हिंदू ने नहीं छाया किया होगा कैसे ये कलमा पढ़ते हैं दर्द क्या है इनको बुखार क्या है सारे बाकी तबलीगें मुकम्मल हो गई उरियानी खत्म हो गई फुआशी खत्म हो गई बेअमली खत्म हो गई क्या अब सिर्फ यही तबलीग बाकी रह गई है मोटा सा लिखा है बेख्तियार सिवाय बातन की बदबख्ती के और कुछ नहीं वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो जूद ही सर बसर अरे तुझ तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है जिन्होंने जाते हुए भी हमें याद रखा आते हुए भी हमें याद रखा अर्श पे गए तो दुआ मांग रहे थे अब पिछला ना कमीना उम्मती कहलवाने वाला वो ये लिख रहा है कि उनको कोई इख्तियार ही नहीं है कर ही नहीं सकते बेख्तियार मोटा लिखा गया है और साथ लोगों को गुमराह करने के लिए क्या हमने आयात लिखी बहुत शमसा में नजरा सुन लो यस अलहू मन फिस समावात वर्थ अल्लाह का सवाली है जो भी है आसमान में और जमीन में अल्लाह का सवाली है याद रखना यहां अल्लाह ने बुद्धों के सवालियों की नफी की है और प्रभात जो भी मंगता है मेरा मंगता है जो भी सवाली है मेरा सवाली है इस जगह हुबल की नफी तो है लात की नफी तो है मनात की नफी तो है उस्सा की नफी तो है हर बत ताहूत की नफी तो है शैतान मरदूत की नफी तो है मगर आमिना के लाल सलाम की नफी नहीं है जो उन्होंने नतीजा इतना बड़ा लिखा हुआ है उसकी नफी नहीं है मैं अपने तरफ से नहीं कहता मैं भी कुरान की मार दूंगा उनको वो कहते हैं कि आ, कोई आपका मंगता नहीं है सवाली सारे अल्लाह के हैं तो मैंने कहा कुरान मजीद कभी शौक से पढ़ लेते तीसवें पारे में अल्लाह फरमाता वह अम्बसाइला भला तनहर मेरे महबूब हमने लोगों का तुम्हारा मंगता बनाया है और जो सायला जाए उसे कर्म की भीख दे देना उसे खाली ना लौटाना अब वहां तो सिर्फ यश आलो था कि यश आलो हूं मन की समावाते वलन उससे सवाल करते हैं जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीनों में फेल था साइल का लफज नहीं था साइल का लफज नहीं था इन जो है कमीने लोगों ने कहा कि साइल अगर कोई सरकार का होगा तो आयत के खिलाफ वर्जी लाजम आएगी अल्लाह ने लफ्ज साइल नाजिल फरमाया हुआ है वह अम साइला फला तनहर महबूब आपका सायल होगा आयत बयान करती है सरकार के सायल की नफी कुरान की आयत की नफी है अल्लाह फरमाता है सायल को झिड़की ना दो ये तब कहा है कि सायल आते थे मंगते आते थे सायल जाते रहेंगे मंगते मांगते रहेंगे और अल्लाह ने कैद नहीं लगाई कि आज झिड़की ना दे कल दे लेना हमेशा के लिए फरमाया जब भी मंगता आएगा मंगते की झोली को मामूर फरमा देना कितने इलम से पैदल लोग हैं और इतना चोरी करते हुए पता ही नहीं लगता दरो गोर हाफिजा नेस्त के हम दीगर आयात को भी देख के कोई झूठ गड़े जिस साइल की नफी करते हैं उस साइल पर आयत उतरी हुई है वह अम साइला फलातन हर तो खाल के कायनात जल्ला जलालू ने रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मरतबा अता फरमाया है फरमाया मंगते आपके हैं मैं आयत नाजिल कर रहा हूं आपके साइल मैंने साबित कर दिए हैं अब साइल को संभाल के रखना है जो भी आएगा उसे खैरात अता फरमाओगे अल्लाह उधर ये फरमाए कि झिड़की नहीं देनी और इधर दे कुछ ना तो ये मतलब क्या बनेगा सरकार को पाबंद कर दिया है कि आपने झोली भरनी है और खुद ये हो कि हमने तुझे कुछ नहीं देना तो फिर तो ये मुतजाद बात होगी इस आयत में ऐलान कर दिया गया महबूब हमने खजाने आपको दे दिए हैं आपने मंगतों की झोलियां भरनी है यह मफहूम पहले साबित होगा फिर साइल वाली बात निकलेगी इस बात से बुखारी शरीफ में है वो ती तो मफातीहा खजाइन मुझे मेरे रब ने सारे खजानों की चाबियां ता फरमाई हुई है दूसरी आयत इकतसार मलूज खातिर है टाइम हमारा ऊपर चला गया है दूसरी आयत वो यास अंतमुल फोकारा लोगो तुम सारे अल्लाह के फकीर हो तो कहने लगा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दातागंज बख्श अजवेरी ये सारे तो अल्लाह के मंगते हैं फकीर हैं तो इनसे तुम जाके क्यों मांगते अल्लाह ने फरमाया या अन तुम उल्फोकारा पहली बात तो यह है कि अन तुम का खिताब देखना चाहिए कि किन के बारे में है पीछे किन का तस्करा हो रहा है और अल्लाह ने किन को फोकारा और भूखे कहा है ये खुद आयत का माकबल बयान कर रहा है कि इससे मुराद मेरे महबूब इस्लाम की जात नहीं है आप तो खुद ऐलान फरमाने वाले हैं और फिर इसमें कोई शक नहीं कि मेरे महबूब इस्लाम अल्लाह के सायल हैं अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उनको देता है वो अल्लाह के फकीर जरूर है मगर इंसानों के अमीर भी जरूर हैं जो उधर ताल्लुक हो वही इधर भी हो ये कैसी मंतिक है मुझे समझ नहीं आती एक बंदे को कहा जाए कि ये तेरे वालिद साहब हैं इनका जरा ध्यान रख वो कहे नहीं नहीं ये भी तो अपने अब्बा जी के बेटे ही हैं मैं भी बेटा हूं ये भी बेटे फर्क किया ये भी बेटे हैं मैं भी बेटा हूं बेटा बेटा होने में हम बराबर उसे कहा जाएगा कम बट तेरे बेटे नहीं वो और के बेटे हैं और तू इनका बेटा है बिना तमशील लफ्ज बेटा को नहीं कर दो और मकान महबूबियत को सामने रखो सरकार जरूर अल्लाह के मोहताज है मगर सारी इंसानियत और सारी कायनात इनकी मोहताज है अंतमुल फुकरा तुम अल्लाह के मंगते हो और सरकार की हालत क्या है अल्लाह तला फरमाता है सुन लेना इन्हें मंगता ना कहो अपना इन्हें मंगता कह के ना बुलाओ वजबा का आइलन आगना फरमा हमने महबूब तुझे मंगता रहने नहीं दिया तुझे हमने गनी बना दिया है अब आयत है इस वास्ते ओलामाए मराकश ने इमाम मालिक की फिका के लोगों ने इस पर फतवा दिया कि जो बंदा सरकार को फकीर कहेगा उसका सर उतारा जाए क्योंकि आयत का इनकार लाजिम आ रहा है जब अल्लाह फरमाता है फागना मैंने तो गरीब बना दिया तुम्हें आयल पाया हम मोहताज थे मगर हमने मोहताज रहने नहीं दिया तो आगला अल्लाह ने गनी कर दिया है जिनको अल्लाह ने गनी किया किसकी मजाल है कि उनको मंगता कह सके कैसा पुराने मजीद में फैसले मौजूद है क्या मत तक की लोगों की खबास्तों का जवाब कैसे मौजूद है वारदातियों की किस तरह इनकी पूरी खबर ली जा रही है जो घटते हैं कहीं बैठ के कुरान मजीद ने पहले उसका जवाब दे रखा है अनतुमुल फोकारा से सरकार तो फरकी साबित होते ही नहीं थे फिर भी अल्लाह ने तो आयत नाजल की हुई है बबा ज्यादा कालन पागना मेरे महबूब हमने आपको आयल पाके मोहताज पाके यूं बनाया कि अब हमने आपको गनी बना दिया है और सिर्फ गनी नहीं मेरे महबूब इस्लाम तो गनी साज भी है खोदी गनी नहीं मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे आका सरवर ने खुद गनी नहीं गनी बनाते भी हैं ये भी कुरान है किस तरह हुमुल्ला हो वसूल हूं मिन बदले ही उन लोगों को गनी किया अल्लाह ने और गनी किया अल्लाह के रसूल सलाम ने देखो आयता है कुरान मजीद की कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है ना अगना हो व रसूल दोनों फाइल हैं गनी किया अल्लाह ने गनी किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी किया अल्लाह ने गनी किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फकीर वाली आयतें पढ़ के बिदती लोग वारदातें कर रहे थे ये असल में बिदत के मुर्तकब है जो इस तरह की इजादात कर रहे हैं अल्लाह ने खुद जवाब दिया है मेरे महबूब सिर्फ गनी नहीं मैंने तो इनको गनी बनाने का अहदा भी दे रखा है आयत है कुरान मजीद है अगलाहमुल्ला रसूल मिन फदल ही गनी कर दिया उनको अल्लाह ताला ने गनी कर दिया अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वजाहतों के बावजूद फिर भी जिसको बीमारी पड़ जाए तो वैसे ही उसका काम हो गया वैसे ही वो जहन्नम के शोलों का असीर हो गया कुरान मजीद ने तो कोई उलझन नहीं रहने दी कि आयत का मतलब समझो किसके बारे में है रुख बदलो नहीं काफिरों से हटा के मोमिनों की तरफ करते हो मुशरकों से हटा के बलियों की तरफ करते हो अल्लाह के मरदूदों से हटा के नबियों की तरफ करते हो कुछ तो होश की गोली खा लो देख लो ये खाल के कायनात तो अजमत जाहिर कर रहा है फरमाया हमने सिर्फ गनी नहीं बनाया बल्कि गनी साज बनाया है मोहतशम सामिन हजरात अब एक हदीस शरीफ बयान करके अपनी गुफ्तु खत्म करता हूं हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की है और इसका तकाजा तो यह है कि इस पर पांच घंटे गुफ्तु की जाए एक हदीस शरीफ पर लेकिन वक्त ऐसा है और मैं वो आपको तोहफे में दे रहा हूं और इतना जाम उसमें मफहूम है जहां भी मारोगे कोई किसी की पुष्ट जो है वो सीधी नहीं रह सकेगी हर मुनकर कुबड़ा हो जाएगा ये सरकार के फरमान की तासीर है और सनद की पूरी जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूं और सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर एक बाबो किस जाते अभी तालिब से यह हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं आज आम एक बात चलती है कि नबी क्या देंगे वो तो चचा को भी कुछ नहीं दे सके थे चचा को कोई फायदा नहीं दे सके थे ये आम एक फैशन बन गया है इन लोगों के यहां इन्हें खबर नहीं है कि मेरे महबूब सलाम ने चचा जी को क्या कुछ अता फरमाया है हम मुहकिन में से इस बात के कायल हैं कि जनाब अबू तालिब अदम ईमान के मरहले में थे अगरचे ईमान का कौल भी लोगों ने किया दलाल भी दिए लेकिन राजे मजहब अदम ईमान का है लेकिन फायदा सरकार ने उनको क्या दिया ये फैसला मेरे महबूब इस्लाम की बारगाह में से दूसरे चचा जी ने करवाया था बड़ी लतीफ और दिलचस्प बात है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तला एक दिन रसूल अक्रम सल्लाम से कहने लगे फमा अग नहीं था अन अम्मे का इन नहू का न यहू तो का वह यकदाबुल्ला का है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि आपने अपने चचा को क्या फायदा दिया आपने अपने चच्चा को क्या फायदा हु बहू ये लफ्ज जो इनकी खोपड़ियों में बतौर एतराज जो शरार निकलता है उसका सवाल हो गया पहले फमा अगनईता गनी बनाना फमा अगनईता नम्बे का मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जी अबू तालिब को आपने क्या फायदा दिया हालांकि उन्हें फायदा होना चाहिए था क्यों फरमा वो तो तुम्हारी बड़ी खिदमत करते रहे क्या फराना यहूदों का उन्होंने तो तुम्हारे लिए हिसार का काम दिया सिर्फ परवरिश में हिस्सा नहीं है दुश्मनों के सामने सीना तार के खड़े हो जाते थे और मुशरकों की मजाल नहीं पड़ती थी कि आपको तकलीफ दें इन नहुकाना यहूदों का वो तुम्हारा हिसार थे व बाबो लाका और जो तुम्हें कुछ कहता था वो उसको नाराज होते थे तुम्हारे लिए लोगों से गुस्सा करते थे तुम्हारे लिए लड़ाइयां मूल्य लेते थे और तुम्हारे लिए उन्होंने सारे कबीलों के मुकाबले में बड़ी कुर्बानियां दी है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चच्चा जो कुर्बानियां देता रहा आपने उस चच्चे को क्या फायदा दिया आज सवाल मुकम्मल हो गया और सवाल में सारा पस मंजर भी आ गया कि फायदा होना चाहिए यहां की खिदमतें तो बड़ा मकाम रखती हैं चच्चा भी हो और फिर यग बाबुल्ला का व यहूतों का ये सारे मंजिलें भी हों और फिर फायदा कोई ना हो फरमाया मेरे चचा जी मैंने फायदा दिया है सरकार के लफ्ज सुनो आज का बिसंता इंसान ये कहता है कोई फायदा नहीं दिया इस बेलगाम को बुखारी की लगाम दो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब सवाल सुना तो चचा जी ने भी नफी नहीं की थी इस्तीफाम था मां इस्तीफामिया माग नहीं था क्या फायदा दिया ये नहीं कहा कि मां अगनईता नहीं फायदा जा मां नाफिया नहीं मां इस्तीफामिया है कि मेरे महबूब बयान फरमा दो क्या तक दुनिया याद रखेगी कि आप यहां तक के चच्चा जो ईमान नहीं लाया था उसको भी आपने फायदा दिया पता लोगों को चल जाएगा बता दे आपने क्या फायदा दिया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के होंठ ढिले सियाबा गवाह है संदे सही है बुखारी शरीफ है जिल्द नंबर एक है किस्सा तो अभी तालिब है फरमाया हुआ फी दह दाहिम मिनन्नार लो ला आना लकाना फिर दरकिल अशफल चचा जी मैंने बड़ा फायदा दिया है अब तो अबू तालिब जो है उनको सिर्फ तखनों तक आजाद है अगर मैं फायदा ना देता तो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होते हैं फी दहदाही मिनन्ना अब सिर्फ टखनों तक है सिर्फ थोड़ा सा अलामती सा लौला आना अगर मैं ना होता तो फिर चच्चा सबसे निचला गड़ा जो है उसमें अजाब होता तो मेरी वजह से क्योंकि मेरी मेरी खिदमत भी उन्होंने की मेरा ताल्लुक भी है अल्लाह ने अपने फैसले बदले ला यू खफाफो अनहोमल आयतें उतरी है जो मुशरक होगा और उसका अजाब इतना बड़ा हल्का तो क्या मामूली सा हल्का भी नहीं होगा और यहां सरकार का फायदा था अल्लाह ने महबूब के सदके पक्के मुशरक से इतना अजाब दूर कर दिया है कि जहन्नम के निचले गड़े से उठा के ऊपर सिर्फ टखनों तक आग में बाकी रखा है तस्वर कीजिए दर के असफल से कितना फायदा मिला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम को आवाज ही फरमाया मेरे सहाबा सत्तर साल पहले फरिश्तों ने एक पत्थर जहन्नम के किनारे से नीचे फेंका था अब वो नीचे पहुंचा है इतनी इतना गहराई है जहन्नम की फरमा अगर मैं ना होता तो फिर चचा वहां होता उस इतनी गहराई में जनाब अब्बास मैंने इतना फायदा दिया है कि चचा जी को वहां से निकाल के बिल्कुल जहन्नम की ऊपर वाली सतह तक ले आया हूं और टखनों तक मामला है और अल्लाह ने मेरे लिए बाकी किसी काफिर मुशरक का आजाब नहीं टलेगा कम नहीं होगा एक इंच जितना भी और यहां तो सत्तर साल की मुसाफत है इतनी गहराई से मेरे लिए मेरे रब ने अब मेरे चचा को ऊपर निकाल के इस सूरत हाल में पहुंचा दिया है बुखारी शरीफ का मुहशी अहमद अली सहारनपुरी देवबंदी इस मकाम पे हाशिए में लिखता है कि काफिरों के अमाल का तो कोई फायदा ही नहीं होता तो यहां पर जनाब अबू तालिब को इस अमल का फायदा कैसे हो गया काफिर का सदका काफिर की खैरात काफिर जो कुछ करे सब कुछ दाया है क्योंकि ईमान ही नहीं तो अबू तालिब उनको फायदा कैसे हो गया तो जवाब ये लिखा नाफाहू आमालहू बेबरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की बात नहीं सरकार की बरकत की बात है अमल का फायदा क्या सरकार की निस्बत का फायदा है सरकार की वजह से ये नफा हुआ महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से ये नफा हुआ और ये भी वजाहत बड़ी कीमती वजाहत है कोई ये ना कहे कि फुलां फेल काम आ गया ये है कि हकीकत में सरकार की जात काम आ गई और महबूब सलाम ने लफ्ज भी ये बोले ये नहीं फरमा अगर मेरी खिदमत ना करते अगर ये ना होता फरमा लौला आना अगर मैं ना होता तो फिर जहनम के नीचे होते लेकिन मेरी वजह से उनको उस अजाब से महफूज कर लिया गया है बहुत शम सामी हजरात बात खत्म करते हुए आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं बड़ी लजीज बात है अगर जनाब अबू तालिब कलमा पढ़ते तो ये मेरे महबूब सलाम की बड़ी खुशी थी चाहत थी और बहुत अच्छा होता लेकिन इसमें भी हिकमत है जो आज जाहिर हो रही है हमारे लिए भी अगर ईमान ला के जहन्नुम से बचते तो फिर तो कमाल था ईमान का और अगर मुशरक रह के भी निचले गले से ऊपर जाए तो कमाल है आमना के लाल का मजा तो ये है ना कि तोहीद नहीं मानी फिर भी अल्लाह ने फायदा दिया कि सरकार के चच्चा है ठीक है कलमा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा ठीक है कोई बात नहीं ये है मकाम मेरे महबूब सलाम का इसको कहते हैं फायदा देना ये है फायदा सही बुखारी शरीफ का और ऐसे एक मरतबा नहीं बार बार जब फायदे लोगों को मिले उम्मत को गुलामों को तो सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तहा बोल पड़ी सही बुखारी शरीफ में है फरमाया अल्लाह फौरन अपने महबूब के कहने पर जो फायदे दे रहा है जुरी हिम किराम आता नबी यही ये अपने नबी के गुलामों को नबी की शान दिखाता है जब भी मंगतों की झोलियां सरकार भरते हैं तो अल्लाह इन मंगतों को अपने नबी की शान दिखा रहा है इन्हें मजबूर बेख्तियार ना कहना हमने तो चाबियां इनको अता फरमाई है बहुत अच्छा। बहुत शामिल अच्छा, नजरात जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया कुरान मजीद और सिहा सित्ता से और अशा असनाद के साथ इसमें से हर लफज का अल्लाह के फजल से जिम्मेदार हूं अब बाप पर कर्ज है आप इसको आगे पहुंचाना है और बेधड़क बड़े से बड़े फ्लोर पर यह पहुंचाए और किसी बड़े से बड़े उनके जो घंटा घर हो वहां तक ये पहुंचा दे किसी तरह का कोई खतरा आपको नहीं होना चाहिए रब काबा की कसम है मैंने सौ फीसद यकीन से बढ़ के इस मजमून को अपने सामने पेश किया आपके सामने रखा और मुझे इनमें से किसी चीज के बारे में भी एक फीसद शक नहीं है अल्लाह के फजल से बरसरे मैदान जहां कोई चाहेगा इसी मजमून को इससे भी ज्यादा तकवीत के साथ पेश कर दूंगा अल्लाह के फजल के साथ इन शाह तबारक वाली हमारी इस मस्जिद में बुद्ध के दिन तरावी में खत्म हो रहा है बंदा ना चीज को ये इस गुनागार को सादत हासिल है कि मैं इस मुसल्ले पे ग्यारहवीं मरतबा कुरान मजीद रमजान शरीफ में खत्म कर रहा हूं और बुद्ध को खत्म शरीफ होगा और फिर बुद्ध को हमारे उस्ताद बरेली शरीफ के अजीम फाजिल उस्ताजुलमा उस्ताजुलकुल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज साहब रहमत उनकी महफिल ईसाल इसबाब है उनका तस्करा भी होगा इन वो बड़ा इज्तम बरकत वाला उसमें शिरकत करें और कल सुबह जो दरस होगा फाम दीन कोर्स में वो भी बड़ा अहम मौजू है मिर्जा कादियानी के धोखे इस वक्त खत्म नबूवत के खिलाफ जो मरदाइयों का की शोरश है प्रापोगंडा है उसका जवाब भी जरूरी है क्योंकि हमने हर महाज पे लड़ना है और जहां भी कोई सरकार के नमूज के खिलाफ बोलेगा उसका जवाब देना है तो कल का इन इंशाला उसके बारे में है और परसों मौजू है मुनकरीन तसवुफ के बारे में जो लोग आज इस माहौल में सूफिया के खिलाफ जहर उगलते हैं और तसवुफ के खिलाफ मकाले पेश किए जा रहे हैं तसवुफ के बारे में मकाला मौजू होगा आप तमाम हजरात से शिरकत की अपील की जाती है और यह भी याद रखें कि सदका फितर अपनी तरफ से सताईस रुपए फीकस के लिहाज से अदा कीजिए ताकि रोजों का आजर मुकम्मल हो जाए वाखिर दावा या अनिलहमदिल्ला रबीआलमी